सुलेमान बिन बिलाल ने यहिया बिन सईद से रिवायत की उन्होंने अमरा बिन अब्दुल रहमान बिन साद बिन जरारा अंसारिया से उन्होंने माँ की तरफ से अपनी बहन से रिवायत की उन्होंने कहा मैंने सूरह कौफ वल कुरआन मजीद जुमे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से सुनकर याद की आप उसे हर जुमे मिंबर पर पढ़कर सुनाया और समझाया करते थे सही मुस्लिम حدیث نمبر دو ہزار بارہ